और उस चीज के पीछे ना पड़ो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं यकीनन कान आंख और दिल इनमें से हर एक के मुतालिक सवाल होगा